तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामाधल में मैं का इतना से अंकुर जिस समय उगा इनके मन में त्यो ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी के तन में गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से वह नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम निकला मुख से पड़ा भरत के कान में जो ही यह प्रिय नाम दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम इस महामंत्र के महामधुर आवाज लगाई है किसने मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में बोले बोल बोल है बोलने वाले फिर वह बोल फिर भर दे उस बोल से मेरे मन की डोल पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को मैं वह जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ ऊपर को इसलिए तो ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को तब तो भी मैं भी गाऊ उस मीठे मीठे गाने को इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास देखा मूर्चित पड़ा है वह राघो का रास बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा नाड़ी देखे तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है श्री राम नाम के उच्छा से आती प्रत्येक श्वास में है यह भी देखा तन आहत है शायद बींधा रहा कुछा का है पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है यद दशा देख कपिवर के श्री भरत लाल भी डोल उठे पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार मुझ पर मेरे प्राण पर बार बार धिकार फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन उनके पावन नाम से सोए हो बलवान इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार उठ बैठे जय राम कह श्री अंजनी कुमार धोखा काया भक्त ने देख सांवरा रूप वही सलोना सोहना कमल अंगयन रूप सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ जाते हैं वही मटियाले जटाजूट मत वाले घूंघर वाले हैं जो खुल जाए तो संबुल है बल खा जाए तो काले हैं प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निजमाथ बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात ओ भरत जो जे खड़े हैं मेरे सन्मुख आज यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज सुनता था परम पवित्र नाम इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नयनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में मैं बड़ भागे हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग भी इन शब्दों के साथ है प्रकट किया निज नाम कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए यधीर रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुख रोए थे था घाव और भी छाती में है जो हरियाली इन चोटों से बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है चरणों में ही अब तलक जिया अब माता उन अब मरता उन चरणों में है पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है हे विधना यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने क्या इसे मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने पैदा ही करना तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता अन्यथा अभाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता धिकार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं ठाकुर जी के प्रतिमा होते पूजा है अधिकार नहीं उसी का जीवन धन है जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है उसी का जीवन है धन्य जगत में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है सिखाया दुनिया को धर्म उसने जो धर्म पे खुद मिटा हुआ है उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है उसे काम है तेज नभ के पर उसे का तप भूमि के है भीतर सदा जो परमार्थ के तपन में त्रुवर्ण जैसा तपा हुआ उसी का जीवन है धन्य जग में अमर सदा है विश्व इस जग में जहाँ के तख्तों पर नाम उसका सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका असत पे जिसने कदम न रखा सदा जो सत पर डटा रहा उसी ने पाया है इस सुधा को वही रिझता है देवता को वही रिझाता है देवता को मिटाए है जिसने अपनी रंगत अमिट के रंग में रंगा हुआ है समान है हर्ष शोक उसको है एक से दोनों लोक उसको लगा के लो राधे श्याम प्रभु मैं सदा को जो टहलुआ बना है उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है जो सेवा व्रत में लगा हुआ है मुझको भी कुछ चा करे करने को कपिराए जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए सुनो नाथ के पास में हरने वाले वीर तुम्हें भरत के हृदय के हर जाओ कुछ पीर